और बुढ़ाई जो कहते एक आदमी को सबको पूरा समझा करके बताइए कि ऐसे कैसे दोनों विरोधी बातें दिखाई देती हैं कौए तो सही तो हो और ऐसा ज्ञानवान और बुद्धिमान हो ये दोनों बातें एक साथ हम मुझे नहीं दिखाई देती इसलिए समझाइए क्या कारण हुआ राम कौन दे पाए तो रामचंद्र सर सुंदर स्वामी और पायो कहा कहो नवगामी और आपको ये रामचंद्र सर कैसे मिल गया राम के अनुसार सर्क रामचरित मानस ये तुम्हें कहाँ से मालूम प्राप्त हो गया मानी भगवान की सुंदर कथा जैसे काभूषण जी ने सुनाई कहा कि कथा तो किसी ने आपको सुनाई होगी किसी ने ये सब रहस्य आपको बताए होंगे तब ये कथा प्राप्त हुई होगी नहीं कहाँ प्राप्त होगी भगवान की कथा को रामचरित सर कहते हैं भगवान की कथा एक सरोवर के समान है इसका वर्णन विस्तार सहित बालकांड में हो चुका है बालकांड में जहाँ सरोवर का वर्णन आता है राम कथा जो है ये सरोवर के समान है राम सरोवर के समान उससे तुलना करके दिखा दी पूरी पूरी हर अंग प्रत्यय उसके बराबर करके दिखा दिए कि जैसे मान सरोवर वैसे ही महान पर्वत तो भौतिक है एक पर्वत है उसके ऊपर जल इकट्ठा हुआ है सुंदर जल है स्वच्छ जल है मीठा जल है उसमें मोती है हंस है कमल है ये सब तो जो है वहाँ के भौतिक मान सरोवर है लेकिन ये मान सरोवर जो है राम कथा के जो है आध्यात्मिक है उसी के समान अपने हृदय में देखे तो मालूम हो कि उसी प्रकार का जैसे वो मान सरोवर ऐसी कथा भी सुंदर कथा भी एक मान सरोवर के समान है जैसे उसमें मान सरोवर में सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है ऐसे उस कथा का जल क्या है निर्गुण ब्रह्म निर्विकार निर्गुण ब्रह्म है वो इस सरोवर का जल है और सगुण ब्रह्म क्या है जब उस जल में कमल निकल आए और प्रेम के पत्ते सब उसमें छा गए तो सरोवर जो सुंदर लगने लगा कमल सहित तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया वो सब स्मरण करो सबके सब बता रहे हैं तो कहते हैं ऐसा सुंदर ये रामचरित मानस रूप की सरोवर होती है तुम्हें कहाँ से प्राप्त हो गया ये सब ज्ञान आपको इसका भगवान की कथा कैसे प्राप्त हो गई पायो कहा कहो नवकामी नवकामी पक्षी है आपको और आपको ये कैसे कथा प्राप्त हो गई मेजबानी कहकर के ये संबोधन करते हैं ऐसा कहते हैं कि मानो ये बता जो तो ये ऋषियों मुनियों की है देवताओं की है आपको ये कैसे प्राप्त हो गई पक्षी होकर के भी तो ना तो सुना मैं अस तो पानी कहते एक बात और भी दूसरा प्रश्न ये है कि कालभूषण जो है अविनाशी तो ये गति कैसे प्राप्त हो गई कहते हैं ना तो सुना मैं अस तो पानी संकट जी से हमने ये बात भी सुनी कि महाप्रलय उन्नाथ तो कभी नहीं

कहते हैं कि मुदा बचन नहीं ईश्वर का ही कहते हैं भगवान शंकर जी तो ईश्वर है वो भाई झूठ बातें नहीं कह सकते ऐसा सकते कि भला चौहान पर कितनी महिला सुनाने के लिए गुरु कह दिया हो कि इनका कभी विनाश नहीं होता सदा बने रहते हैं इसलिए शंकर जी ने जब तो बिल्कुल सत्य कहा तो बात तो सत्य होनी चाहिए कि आपका विनाश महाप्रलय में भी न हो लेकिन ये संभव कैसे है ये हम जानना चाहते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि आपका जो है वो यहाँ प्रलय होती तो आपका भी प्रलय हो ही जाता होगा ये नहीं कहते आपका प्रलय नहीं होता हम कभी ठीक कहते हैं लेकिन क्यों नहीं होता इसका कारण हम समझ में आ गए तो कहते हैं कि सौ मोरे मन सुनते यही ये भी हमारे मन में संशय है ये भी समझाना चाहिए कि इस प्रकार की अविनाशी स्थिति अमृतत्व तो कैसे आपको प्राप्त हो गया एकाग्र शरीर जो वो अमृत हो गए अमर कैसी अमरता कैसे प्राप्त हो गई तीन प्रकार के जीव है वो भी गिना दिए देव नर नाग ये सत्य सब मात्र सकल जग काल करेगा संसार में सत्य सब ये सब काल की करेगा है सात काल उनका सबका भक्षण कर जाता है जितने मनुष्य है देवता इत्यादि है सब काल के काल में सुना जाते हैं सब जितने जितने की चरचर जितने भी प्राणी है सबका विनाश होता है शरीर ही नहीं जीव जो वो भी काल कलेवा जीव भी समाप्त हो जाते हैं अंतता जीव भी परमात्मा में जीव हो गया खत्म हो गया वो भी समाप्त हो गया जीव भी सदा नहीं रहता तो अखंड कटा अंध कटा अमित लयकारी अब इनको कहते हैं सृष्टि की बात कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मांड जैसा है अमित ब्रह्मांड है लयकारी वो ब्रह्मांड भी सब लय हो जाते हैं वहां लय होती है जितने ब्रह्मांड है सब समाप्त होकर के दिन होते समाप्त होते लयकारी यानी लय होते हैं ये सूचित करते हैं लय शब्द प्रयोग करके कि जगत जो वो लय होता है और फिर उदित होता है लय के मन लय जगत का विनाश नहीं कहते प्रलय कहते प्रलय के मैंने समस्त जगत के नाम रूप जहां दिन हो गए तहाँ अव्यक्त रूप में माया हो गई और जहां व्यक्त हो गई माया तहां फिर सृष्टि का विस्तार हो गया तो ये कहते हैं कि जब प्रलय होती है तो सारा संसार वो भी सबके संगीन हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं और काल सदा के क्रमधारी और काल की सदाई ही क्रम है विरुद्ध क्रम अनिवार्य है जिसका कि कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता काल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता काल सबको खा जाता है लेकिन काल का रक्षण कोई नहीं कर सकता ऐसा काल है वो भी काल जरूर हो आप काल के भी पालन करिए तो मैं काल में खाता उसके बाद में आप कालातीत कैसे हुए ये प्रश्न है तो तुम्हें न व्यापक काल अति कराल कारण कौन ऐसा कराल काल जो है वो तुम्हें व्यापता नहीं मैंने काल के साथ तुम्हारा विनाश नहीं होता ऐसा कौन सा कारण है ये कैसे हो गया ये ये बात किसने समझाई है तो दो प्रश्न हो गए एक प्रश्न तो ये हो गया कि काल शरीर कैसे प्राप्त हुआ और दूसरी बात कि तुम्हें तो यह कालातीत कैसे हो गए काल विनाश करते सकता लेकिन तुमसा विनाश क्यों नहीं करता तो मुंह से भी कालेश्वर हाँ, जी ने बताया और उन्होंने कालेश्वर ने एक गरुड़ अनुभव भी किया जब कालेश्वर जी के आश्रम में पहुंचे तो जाने कितना अस्सी उस तक चारों तरफ वहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव आश्रम का था कि उस क्षेत्र में उस परिधि में कोई प्रवेश न कर जाए तो बस उसके बाद ये बीज पड़ी लेकिन आश्रम में आते ही जो विश्राम शांति मिल गई ये क्या कारण होता है ये भी प्रश्न इस प्रकार से इतने प्रश्न गरुड़ गिरा सुन हर्षु परमे Yeah. भी भगवान की महिमा छुपी हुई है इसलिए कहते उसे आदर पूर्वक जिस घटना का संतों की भी कथा जिनके जीवन की घटनाएं हैं वो संतों का कोई अपनी कथा नहीं है संतों की कथा सब भगवान की महिमा की कथा है इसलिए कालकृष्ण की जो कथा है वो कालकृष्ण की कथा नहीं भगवान की महिमा की कथा है उनके जीवन में जो महिमा भगवान की प्रकट हुई उसकी कथा है क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटी और भगवान कैसे अनुकूल कैसे होते हैं कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है क्षेम प्राप्त क्षेम के मैंने क्षेम कहते हैं कुशल और क्षेम किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता हर व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहता है विश्वास चाहता है ये चाहता कि हमारी तभी सब ये होता है इसके बिना क्षेम किसी व्यक्ति की नहीं में उसी में स्थिर रहे तो दुनिया की बातों में जाए विश्व में मिल जाए अन्य भटके तो नहीं सदा उसका केंद्र बिंदु जो है अपने चित्र का हो जाए उसी परमात्मा में सदा स्थित रहे संसारी व्यक्तियों का जैसे चित्र विश्व में भटकता रहता है इसके विपरीत जब चित्र दस से हट करके सदा परमात्मा में परमात्मा भाव में ही निमग्न रहे उसी में घूमता रहे उसी में विश्राम पा रहे उसी में रति पा रहे ये तेई बिल्कुल तेई बिल्कुल छेम उसके किसी को छेम नहीं प्राप्त होता और यही तनराम प्रगति में आई है वही भक्ति मुझे इस शरीर में प्राप्त हो इस शरीर तो में पवित्र शरीर पवित्र तो शरीर मुझे प्राप्त हुआ तभी मुझे भगवान की वैसी भक्ति मुझे प्राप्त हो गई ताते मुई ममता इसलिए तो मुझे इस शरीर में ममता लगी ममता लगी मैंने ये शरीर बहुत अच्छा मुझे लगा कि देखो इसी शरीर में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है अज्ञानी जैसा नहीं है जैसे अज्ञानी व्यक्तियों को तो शरीर में मन होता अज्ञानी व्यक्ति तो अपने शरीर को सब कुछ समझते हैं उसी की सेवा पूजा और उसी को खिलाना फैलाना टहलाना फैलाना करना उसी की सेवा में लगे रहते हैं ऐसे करके नहीं ज्ञानी व्यक्ति का चित्र तो रहेगा परमात्मा में और शरीर उसका अगर प्राप्त है तो वो शरीर जिस शरीर के द्वारा परमात्मा की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई वो शरीर उसे उपयोगी लगता है उपयोगी स्वार्थ चाहे लौकिक स्वार्थ हो चाहे पारमार्थिक स्वार्थ हो लौकिक स्वार्थ होता है तो लौकिक व्यक्तियों के साथ में उसका जनता बनी रहती है और पारमार्थिक स्वार्थ आता है जैसे ज्ञान प्राप्त हो भक्ति प्राप्त हो जैसे गुरु है उसमें ममता हो जाती है गुरु में भी क्यों कि गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो उसमें महत्व आ गया तो ये सर्वत्र देखा जाता है जहाँ जिसका स्वार्थ लौकिक पारलौकिक कोई भी स्वार्थ देश ये शरीर मुझे तेहिते कुछ मुझे स्वार्थ तेहिते मुझे कुछ स्वार्थ होई और तेई ब्रह्मता दर्शन होई अन्नदाय समीप सत्सम्मत सज्जन खाई कहते ये अन्नदाय अन्नदाय के मैंने करिए जानी में जो ये जो नीच हो उससे भी प्रेम कभी फिर में फिटने हुए तो सोने कभी छोड़ने कभी अरे उसको खिलाएंगे सैतूत का पेड़ बनाएंगे सैतूत के पत्ते खिलाएंगे उसे फिर उसको खाएंगे पिटाएंगे उसकी रक्षा करेंगे कहीं उसको गर्मी सर्दी से कहीं नुकसान होकर के न जाए जीवन को के लिए उनकी इंतजाम करेंगे तो कई काले संतोए कीड़ा भैया बदल रहे क्योंकि उसे समझ करके इतना उसका फायदा होता है